यमुन तीरत दिन कर बासो भयो समय सम सब सुपासो रात ही घाट घाट के तरनी आई अगणित जाय नहीं बरनी प्रात पार भय एक ही खेवा तो से राम सखा की सेवा चले नहाय नदी सिर नाये सास निषादनाथ दो भाई उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले आगे मुनि पर बाहन आछे राज समाज जाय सब पाछे तही पाछे दो बंधु पयादे भूषण बसन वेश सुचि साधे सेवक सुहृद सचिव सुत साथा सुमिरत लखन सिय रघु रघुनाथा सुमिरत लखन सिय रघुनाथा जह जह राम बास बेश्रामा तह तह करहि प्रेम प्रणामा आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं मग बासी नर नारी सुने धाम काम तज धाय देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम का छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं कहीं सप्रेम एक एक पाहे राम लखन सखि हो कि नाही वै बपु बरन रूप सुले शिल सनेह सरिस समचाले मे सुन सो सखे सियन संगा आगे अने चली चतुरंगा नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा सख संदेह हो यही भेदा गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है परंतु हे सखी इनका न तो वह वेश वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है न सीता जी ही संग हैं और न इनके आगे चतुरंगणी सेना चली जा रही है फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है इनके मन में खेद है हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है कह सकल तही समन सयानी तहि सराहि बानी पुर पूजे बोले मधुर बचन तियधूजे कहि सपेम सब कथा प्रसंगो जहि विधि राम राज रस भंगो ही बहुर सराहन लागे शील स्नेह सुभाय सुभागी उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी चल तपया देखात फल पिता दिन तजराज जात मनावन रघुबर है भरत सरिस को आज वह बोली देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं इनके समान आज कौन है